यो मृतो भवति अत्र ब्रह्म संस्मृते यदा सर्वे प्रभिद्यन्ते हृदयस्यः ग्रन्थयः अथमर्त्यो मृतो भवति एतावद्यनुशासनम् शतञ्च एकाचो हृदयस्य नाद्य तासाम् मूर्धानम् अभिनिष्कृतैका तयोर्धुमायन्नमृतत्वमेति विश्वम् अन्या उत्क्रमणे भवन्ति मनुष्य के हृदय में राम की जगह काम बैठ गया और वो अपने को राम जानने की जगह अपने को काम ही जानने लगा तो जीवन में जितनी गति होती है वो सब काम चलाता है कि राम चलाता है जो जो हम करते हैं चलते हैं फिरते हैं बोलते हैं महाभारत में तो ऐसे कहा कि यद्यप भी कुरुते जंतु तब तक कामस के चेष्टे पर वो उसी मन की गीता का ही ये श्लोक में है अकाम से क्रिया काचित विद्यते नेह करिचित यद्यपि कुरुदे जंतु तब तक काम से चेष्टिता क्योंकि निष्काम में क्रिया नहीं है इसलिए मनुष्य के जीवन में जितनी भी क्रिया होती है वो भीतर बैठा हुआ जो काम है वही करता है यहाँ तक कि विक्रिया भी काम से होते हैं क्रिया तो ऐसी हुई कि जैसे ये फूल उठा लिया एक क्रिया हुई हाथ चलाया ये क्रिया हुई लेकिन ये हाथ जो जवान से बूढ़ा हो रहा है ये तो हम नहीं कर रहे हैं है? लेकिन ये हाथ को जवान से बूढ़ा बनाने का काम भी काम ही कर रहा है कई ऐसी कामनाएं हैं जो इस हाथ से पूरी नहीं हो सकती तो उसके लिए दूसरा हाथ चाहिए अब एक हाथ से दूसरा हाथ बनने के बीच में जो प्रक्रिया है उसी को विक्रिया बोलता है विक्रिया अब ये बुढ़ा होगा बदल जाएगा फिर एक हाथ की जगह दूसरा हाथ आ जाएगा एक हाथ को हटाकर दूसरा हाथ कौन लाएगा काम लाएगा तो दूसरे हाथ के आने में रुकावट कौन डाल रहा है तो काम डाल रहा है तो जब जब भी कुरुते जनते हो तब तब काम से चेष्टितम मनुष्य जो कुछ करता है वो सब काम की चेष्टा है काम की वासना के रथ पर सवार मैं का नाम काम है और वासना के रथ पर से उतरे हुए मैं का नाम राम है, है तो मैं ही तो जब परिच्छिन्न हुआ तब एक वासना में बैठ गया दो वासना में बैठ गया वासना से वासना वासना से वासना और एक मोटर से काम कहाँ चलता है हाँ। हम ऐसा देखा हमने कि जो बिल्कुल एक ही आदमी है घर में दूसरा नहीं है और उनके घर में भी कई मोटर है तो क्यों हम तो एक में वो खूब जाते हैं है ना और एक में ही हमेशा नहीं जाते एक में नौकर चाकर जाते हैं एक मंगनी देने के लिए उधार देने के लिए है ना लोग मांगते रहते हैं ना तो उनके लिए एक मोटर अलग सड़ी सी है वो पुराने मॉडल की है तो <laughs> तो एक बात क्या है कि एक वासना पर तुम बैठे रह सकते हो एक वासना पर बैठे नहीं रह सकते नई नई वासना चाहिए कभी शब्द चाहिए कभी स्पर्श चाहिए कभी रूप चाहिए कभी रस चाहिए कभी गंध चाहिए ये एक मनुष्य के मन में ये भ्रम हो गया है तत्व जो है वो आकार वाला होता है कहीं भी तत्व में आकार का आग्रह नहीं हो सकता तत्व कहते ही उसको है जिसमें आकार आरोपित होता है जैसे मिट्टी बड़े गले के रूप में रहे कि छोटे कण के रूप में रहे कि सकोरे के रूप में रहे कि भुलवे के रूप में रहे कि घड़े के रूप में रहे ये आग्रह माटी को कहा है है ना माटी तो माटी है कि आकार तो उसमें बनते हैं और बिगड़ जाते हैं तो यहाँ माटी की ये दशा हो गई है जैसे माटी ने अपने को चना मान लिया एक जगह माटी ने अपने को गेहूं मान लिया दूसरी जगह तो माटी ने अपने को अंगूर मान लिया तीसरी जगह माटी ने अपने को आम मान लिया चौथी जगह इसी का नाम वासना ग्रंथी है एक एक गुण एक एक क्रिया एक एक आकार एक एक रस एक एक स्वभाव को जब माटी अपना आका मानने लगी तो अब चने में से चना कभी फूलेगा कभी फटेगा कभी भूना जाएगा कभी अंकुर निकलेगा और कभी नष्ट भ्रष्ट होगा तो माटी रोएगी कि हाय हाय मैं नष्ट भ्रष्ट हो गई तो ये चने के सारे आकार और विकार और सारे संस्कार सारे गुण सारे धर्म हैं, सारे प्रकार सारी अवस्थाएं सारा स्वभाव जैसे माटी में आरोपित ही है उसको चने को जला दो माटी की माटी माटी नहीं जलेगी चने से माटी जुदा है कि नहीं है क्योंकि चने के जल जाने पर भी माटी नहीं जलेगी लेकिन माटी पूरी क्यों माटी फटी क्यों माटी अंकुर क्यों बनी है? माटी भूनी क्यों गई माटी पीसी क्यों गई माटी खाई क्यों गई इसलिए कि माटी ने अपने को चना मान लिया तो ये जो आत्मदेव हैं ये माटी की तरह पानी की तरह आग की तरह वायु की तरह आकाश की तरह देश की तरह काल की तरह एक तत्व है वो जैसे देश में पूर्व पश्चिम केवल कल्पना की ग्रंथि है काल में पहले और पीछे केवल कल्पना की ग्रंथि है पंचभूत में जैसे अंगूर और आम ये केवल गुण ग्रंथि है रसक ग्रंथि है इसी प्रकार ये जो मैं का व्यक्तित्व है मैं में जो व्यक्तित्व है मनुष्यत्व है पशुत्व है पक्षित्व है स्त्रीत्व है पुष्प है हिंदुत्व है विलक्षत्व है ये सब क्या है कहे तो कोई करेला है कोई बेर है कोई अंगूर है कोई आम है है ना और इनके टूटने से फूटने से मिटने से जैसे पंचभूत की कोई हानि नहीं होती ज्यो का त्यों वैसे स्त्री पुरुष हिंदू मुसलमान इनके टूटने फूटने से चैतन्य की कोई हानि नहीं होती चैतन्य धातु है और ये जो हम एक एक व्यक्ति बने हुए इधर उधर ढिला रहे हैं ढुलक रहे हैं इधर से उधर इधर से उधर वो व्यक्ति ढुलक रहा है तत्व तो नहीं ढुलक रहा है नरक में जाता है व्यक्ति स्वर्ग में जाता है व्यक्ति और चेतन का जाना आना भी तो बड़ा निराला होता है होती है कल्पना और मालूम पड़ता है कि पहुंच गए जैसे देखो अब हम पाँव में हैं तो अब हम हाथ में हैं तो अब हम आंख में हैं अब हम सिर में हैं तो जैसे अपने शरीर में कोई मूत्र स्थान पर होने का मैं कर ले और कोई मल स्थान पर होने का मैं कर ले तो उसने कल्पना की अपने नरक में होने की और अपने को भावों के ऊपर होने की कल्पना कर ले तो उसने अपने को स्वर्ग में होने की कल्पना कर ले पर वो है कहा समूचे शरीर में ही तो उसका मैं है ना उसका शरीर समूचा शरीर ही तो एक रकम से भी उसका मैं है ना व्यवहार में पांव से लेकर के सिर तक लेकिन अगर वो ये ख्याल करे कि केवल मैं मूत्र स्थान में हूँ और केवल मल स्थान में हूँ तो जैसे उसने अपने ख्याल से ही अपने लिए नरक बना लिया ऐसे ही अनंत कोट ब्रह्मांडात्मक जो ये विश्व विराट है ये मैं है अपने में आप अपने को आप कहाँ रखते हो नरक में रखते हो कि स्वर्ग में अपने कहाँ होने का ख्याल करते हो पाँव में कि सिर में कल्पना ही तो है ख्याल ही तो है तो हमारे जो चार बात मुख्य हैं वेदांत के दृष्टि सृष्टिवाद अवच्छेदवाद आभासवाद प्रतिबिंबवाद ये जो मुख्य बात हैं इनमें सब में ये बात मानी जाती है कि आत्मा में गमनागमन नहीं है वो एक शरीर से दूसरे शरीर में आत्मा का जाना आना नहीं होता एक लोक से दूसरे लोक में जाना आना नहीं होता आत्मा तो ब्रह्म ही है आत्मा तो ब्रह्म ही है तो फिर आना जाना क्या होता है का आने जाने की कल्पना ही हो जाती है जैसे कोई कामी पुरुष सोच ले कि मैं तो मूत्र स्थान में ही रहता हूँ है ना जैसे कोई संग्रहणी का अतिसार का रोगी सोच ले कि मैं तो मल स्थान में ही हूँ जैसे कोई फेफड़े में है ना टीबी हुआ बोले बस मैं तो फेफड़े में मेरी जान तो फेफड़े में ही है इसी प्रकार अनंत कोटि ब्रह्मांड का जो अधिष्ठान है वो अपने को अपने ही अंदर है ना अपने ही अंदर भासते हुए तो आत्मा नरक में जाती नहीं मैं नरक में पहुंच गई ऐसी कल्पना होती है स्वर्ग में जाती नहीं मैं स्वर्ग में पहुंच गई ऐसी कल्पना होती है जो नियंत्रण की प्राप्ति नहीं होती जन्मांतर की प्राप्ति नहीं होती मैं जन्मांतर में चला गया ऐसी कल्पना होती है तो आप समझो कि ये सिद्धांत दृष्टि सृष्टिवाद का अवच्छेदवाद का प्रतिबिंबवाद का सभी का एक तरीका है कि जो पूर्ण वस्तु है उसमें गमनागमन केवल कल्पित है परंतु ये कल्पना होती क्यों है का अपने स्वरूप की अखंडता का बोध न होने से जैसे माटी है ना अंगूर बन के सड़ती क्यों है या माटी मल क्यों बन जाती है, है? या माटी जो है वो आम होकर पैदा क्यों होती है तो तत्त वासना की एक एक गांठ पड़ गई है एक एक चना जो है ये मिट्टी में एक एक ग्रंथि है वासना की स्वाद की गुण की अवस्था की धर्म की अब यदि समूची मिट्टी अपने को चनई मानने लगती है कि मैं चला हूँ तो यही मिट्टी की मूर्खता होगी तो तत्व जो है वो कहीं आकार से गुण से धर्म से अवस्था से स्वभाव से परिच्छिता से ग्रस्त नहीं होता है कभी भी तत्व तो यही जो आरोपित आकार में अहमता है यही सारे दुख का हेतु है हम तादात्म्यापन्न हो गए तादात्म्यापन्न हो गए एक हो गए जब पैसे से एक हो जाते हैं तो कहते हैं पैसे बिना मार जाएंगे जब परिवार से एक हो जाते हैं तो कहते हैं परिवार बिना मार जाएंगे जब शरीर तेज हो जाते हैं तो कहते हैं शरीर बिना हमारी स्थिति क्या है ऐसे ही ब्रह्मा से एक होते हैं विष्णु से एक होते हैं रुद्र से एक होते हैं सूर्य से चंद्रमा से एक होते हैं धरती ब्रह्मांड से एक होते हैं ये जिससे जिससे हम एक हो जाते हैं वो वो हमारी कल्पना है है ना और अपने में हम कोई कल्पना ही न जोड़े कि हम कौन हैं नाम मत रखाओ अपना नाम मत रखाओ कि हमारा अमुक नाम है का रूप अपना मत लो ये हमारा रूप है और कर्तव्य की ड्यूटी अपने ऊपर मत लो है ना ये कर्तव्य का जो भार है ना भार कर्तव्य का भार अपने ऊपर मत लो अपने में कर्ता अपने भोक्ता अपने का अभ्यास अध्यारोप मत करो तो तुम क्या हो ये सारी कल्पनाएं बनाई हुई हैं ये सारी गांठें अपने आप में मानी हुई हैं चले जा रहे हैं वासना की मोटर पर चढ़े हुए कहा जहाँ पैसा मिले वासना की मोटर पर चढ़ के कहा जा रहे हैं जहाँ स्त्री मिले वासना की मोटर पर चढ़ के कहा जा रहे हैं जहाँ पुत्र मिले परिवार मिले कुर्सी मिले है ना यही वासना की मोटर पर बैठ करके मैं वासना वाला मैं मोटर वाला मैं मोटर का मालिक मोटर मेरी मोटर मेरे साथ जुड़ी हुई अरे मैं मोटर है ना मच्छर भी एक मोटर है चिड़िया भी एक मोटर है आदमी भी एक मोटर है औरत भी एक मनु पुरुष भी एक मोटर है स्त्री भी एक मोटर है है ना और इसी के अनुसार अपने मैं को बैठा करती है तो कुरु के जंतु हो तत्त कामत से चेष्टिताम कहिए तो होने दो काम काम को रखी रहने दो लेकिन तुम न रखी हो न रखो जहाँ नपथ रथ पथिक नाथ इति नरथा जहाँ न रथ है न मार्ग है तुम तो वो हो वो हो रथ मरते हो अमृत भवते मरने वाली चीज के साथ अगर अपने मैं को जोड़ोगे तो जोड़ना जो है वो एक तो है कि ये मरने वाली चीज मेरी है एक जोड़ना तो ये हुआ तो मेरी है मैं मेरी थी ये भी जोड़ना है और मेरी हो जाए आगे ये भी जोड़ना है बोला तो भूत में ममता थी भविष्य में ममता हो जाए और वर्तमान में ममता है एक तो ये हुआ और एक आम तो ये तो मैं हूँ मैं था मैं ही रहूंगा और एक मैं और मेरापन शिथिल भी हो जाए परंतु यदि वस्तुएं सच्ची मालूम पड़े ना अधिष्ठान के ज्ञान से बाधित न हो तो थोड़ी देर के लिए मैं हटा लोगे फिर आके बैठ जाएगा कुत्ते को डंडा मार के भगा दिया फिर घर में घुस जाएगा ऐसा है कि हुआ असल में कुछ नहीं ना कुछ हुआ न है कछु और ना कछु हो अनहार अनुभव का दीदार है अपना रूप अदार हुआ कुछ नहीं न पुनर्जन्म हुआ न था न आगे होगा न लोक लोकांतर में गमना गमन हुआ न है न होगा जैसे स्वप्न में ये किसी को कल्पना हो जाए कि मैं पूर्व जन्म में से आ रहा हूँ और उत्तर जन्म में जा रहा हूँ तो क्यों हुई इसलिए हुई कि स्वप्न का जो शरीर स्वप्न में जो शरीर मिला हुआ है जो सोया हुआ है सो नहीं जो सपना देख रहा है सो नहीं सपने में जिस रूप में अपन है उस शरीर को जब अपना मैं समझते हैं और वो पूर्व जन्म में भी कुछ था और उत्तर जन्म में भी कुछ होगा ये कल्पना होती है यदि स्वप्न में स्वप्न में दो चीज होती है वो तो आप जानते हैं एक समूचे स्वप्न का दृष्टा और एक स्वप्न में व्यक्ति जैसे स्वप्न में आप बाजार में सौदा खरीद रहे हैं तो एक तो सारे समूचे को देखने वाला आत्मा और एक वहाँ मनुष्य बन करके बाजार में सौदा खरीदने वाला व्यक्ति अच्छा सौदा खरीदने वाला जो व्यक्ति है उसका पूर्व जन्म है कि नहीं है आप बताओ सौदा खरीदने वाले व्यक्ति का उत्तर जन्म है कि नहीं है तो 20 पहले उसका ब्याह हुआ था सपने में और 10 वर्ष का उसका बेटा है और बड़ा भारी उसके मकान है और वो सौदा खरीद के वहाँ जाने वाला है तो सपने में क्या सचमुच उसका 20 बरस पहले ब्याह हुआ था क्या 10 बरस का बेटा है क्या वो वहाँ से सौदा खरीद करके अपने घर जाएगा कि तो नहीं वो उस व्यक्ति पर मैं करके जब बैठा हुआ है तब ऐसा सोचता है ये उसका ख्याल ही है सब ख्याल है कि हमारे पत्नी है पुत्र है मकान है तो हम घर से आए हैं घर लौट के जाएंगे और इस जन्म में जब हम सुखी दुखी होते हैं तो पूर्व जन्म में हमने पाप पुण्य किया होगा और इस जन्म में हम पाप पुण्य करते हैं तो अगले जन्म में हम सुखी दुखी होंगे सारी कल्पना उस हिंदू के मन में जो सपना देख रहा है यज्ञों को यज्ञों को सुधारी है उस सपना उस सपने में व्यक्ति बने हुए के मन में सारी की सारी कल्पना है लेकिन क्या कुछ है तो वो स्वप्न के व्यक्तित्व में जो मैं है वही भूत भविष्य आगे पीछे बाप भीतर है ना परिवार संतान सब ऐसे जुड़ गया कि वो स्वप्न के व्यक्तित्व में मैं होने से तो जैसे स्वप्नावस्था में समूची स्वप्नावस्था के दृष्टा होते हो तो और मैं जोड़ देते हो एक व्यक्ति के साथ ऐसे ये जो समूची जागृत अवस्था दिखाई पड़ रही है जिसमें सूर्य चंद्रमा जिसमें आकाश जिसमें वायु जिसमें अग्नि जिसमें ऐसी ऐसी हजारों धरतियां ये दिखाई पड़ रही हैं ये सब जैसे स्वप्नावस्था में स्वप्न दृष्टा को दिखाई पड़ती है वैसे जागृत अवस्था में जागृत दृष्टा को दिख रही है अब इस जागृत अवस्था में दिखने वाला जो व्यक्तित्व है ये श्रोता या वक्ता उसको किया मैं है ना तो क्या ख्याल होता है कि ये व्यक्ति अमुष्टन में पैदा हुआ है ना अमुक का बेटा है अमुक अमुक पूर्व जन्म में कर्म किए होंगे तब ऐसा हो कर्म करता है तो अमुक होगा वहाँ से आया है वहाँ लौट के जाएगा ये स्वात्मिक व्यक्तित्व जो है उसमें मैं करने के कारण स्वप्न पुरुष को मैं समझने के कारण स्वप्न पुरुष को मेरा समझने के कारण तुम्हारा पूर्व जन्म भी हो गया तुम्हारा उत्तर जन्म भी हो गया पाप करोगे तो नरक में जाओगे पुण्य करोगे तो स्वर्ग में जाओगे तुम सुखी हो तुम दुखी हो ये सारी बात क्यों है कि ये सपने में जो सौदा खरीदने वाला है उसको तुमने मैं समझा कुंभ के मेले में जो तुम गंगा स्नान कर रहे हो नारायण उस गंगा स्नान करने वाले को तुमने मैं समझा मन देह को मैं समझा व्यक्तित्व को मैं समझा सारा कुंभ का मेला तो तुम्हारे मन में है तो तुम्हारी दृष्टि में है स्वप्न में जो मच्छर है स्वप्न में जो घड़ियाल है स्वप्न में जो कछुआ है स्वप्न में जो चिड़िया है वो तुम्हारे स्वप्न में तुम्हारी दृष्टि में सब दिख रहा है और वैसे ही कैसा दिख रहा है जैसी वो मछली है जैसी वो चीटी है जैसा वो मच्छर है जैसी वो चिड़िया है, हैं? और जैसे हजारों स्त्री पुरुष दूसरे हैं वैसे ही वो शरीर भी दिखाई पड़ रहा है जिसको तुम मैं बोल रहे हो अगर तुम्हें मैं कहना है तो वो मच्छर भी तुम्हारा मैं है तत्व दृष्टि से हैं? और मैं नहीं कहना है तो जिसको तुम मैं कह रहे हो वो भी मैं नहीं है तो ऐसी स्थिति में ये कामक ग्रंथि है वो अविद्या वासना ग्रंथि हृदय से ग्रंथया सो विद्या ग्रंथि विकरती विकिरती है सौम्य उपनिषद में अविद्या विधेयक अविद्या अविद्या ग्रंथि हृदय ग्रंथि वासना ग्रंथि चिज्जनक ग्रंथि तुम हो चेतन और जड़ को मैं मान रहे हो तो यही हाँ, हो अपरिच्छिन्न परिच्छिन्न को मैं मान रहे हो ये तुम हो स्वप्न दृष्टा पर सपने के एक तमाशा को सपने के एक तमाशा को मैं मान रहे हो सपने में जो एक तमाशा है तुम हो जादूगर लेकिन जादू के खेल में जो एक आदमी है उसको मैं मान रहे हो तो जब ये ऐसा हुआ था बोले कि उस शरीर से चीटी के शरीर से जो भोग चाहिए वो तुमको अभी नहीं चाहिए अभी तो मनुष्य के शरीर से जो भोग चाहिए वो चाहिए हाँ, तो इसलिए अब मनुष्य शरीर वाले भोग को प्राप्त करना है तो मनुष्य को मैं नहीं करोगे तो कैसे बनेगा तो यही जो भोग वासना है वासना की गांठ पर है ना जैसे जैसे मिट्टी चने की ग्रंथि में बैठ गई गेहूं की ग्रंथि में बैठ गई अंगूर की ग्रंथि में बैठ गई वैसे ये जो अपना आत्मा है ये है तो स्वप्नावस्था का दृष्टा पर मानता ऐसा है कि हम सपने के एक आदमी हैं और दुकान में कपड़ा देख रहे हैं वो और हम दृष्टा है है ना हो गया ना क्या तो वो है जो स्वप्नावस्था का दृष्टा है है ना ऐसे दृष्टा कौन है तो केवल जागृत पुरुष का एक व्यक्ति का दृष्टा नहीं है जागृत अवस्था का दृष्टा है और जागृत अवस्था में जो पूर्व और उत्तर की जो कल्पना है कि अमुक जो जन्म जोनी में जन्म लेकर के ये कर्म करने से और फिर ये शरीर प्राप्त हुआ है और ये कर्म करने से फिर अगला शरीर प्राप्त होगा ये भी क्यों है कैसी वासना ग्रंथि में मैं करने के कारण तो इसी को काटना है भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यंते सर्व संशया क्षीयंत शास्त्र कर्माणी हाँ, क्या तस्करावरे हाँ। दृष्ट एवा खिलात्मनी तस्मिन दृष्टे परावरे हाँ, भागवत में दृष्ट एवा खिलात्मनी और उपनिषद में है तस्मिन दृष्टे दृष्टे तस्मिन परावरे परावर शब्द का अर्थ है परम अति अवरम जसमा दुनिया की दृष्टि में जो सबसे परे है वो भी अबर है माने छोटा है जिससे पर माने अव्यक्त प्रकृति सगुण ब्रह्म अपर ब्रह्म परम अपनी अवरम जस्मात वो सगुण ब्रह्म भी जिससे अवर है अवर है माने जिसका छोटा भाई है निर्गुण में सगुण हुआ निर्गुण में सगुण का आरोप हुआ निर्गुण, में सगुण का अपवाद हुआ अध्यारोप के अनंतर और अपवाद के पूर्व निर्गुण में सगुण की प्रतीति होती है अध्यारोप के पूर्व और अपवाद के अनंतर निर्गुण में सगुण की प्रतीति नहीं होती तो परम अपनी अवरम जसमात वो सर्व सर्व सर्व कारण कारण सर्वशक्तिमान परमेश्वर जिससे अवर है माने जगत के कर्ता भरता संहर्ता के रूप में जिसकी कल्पना की गई है वो जो मूल तत्व प्रत्यक्ष चैतन्य अभिन्न ब्रह्म तत्व है उसका यदि दर्शन हो जाए है ना माने तद विषय अविद्या की निवृत्ति हो जाए अविद्या की निवृत्ति हो जाए तो क्या बोले हृदय ग्रंथि ये जो तुम अपने को आम अंगूर बन करके पैदा होते और सूखते और सींचते और बढ़ते और घटते हो वो नहीं होगा ये नारकी स्वर्गी पुनर्जन्मी जो बनते हो तो ये नहीं होगा तस्मिन दृष्टि बराबर है भिद्यते हृदय ग्रंथि जिस गांठ से बंध करके हो जिस गांठ से बंद करके तुम भटक रहे हो गांठ ऐसी तुमको बांध करके तुम्हारे जैसे हाथ में हथकड़ी लगी हो जैसे पाँव में बेड़ी लगी हो ऐसे तुम्हारे कलेजे में एक गांठ लग गई है वो गांठ ही तुमको खींचे लिए जा रही है क्या होता है एक बार एक आदमी ने यही बम्बई में हमसे पूछा था बहुत बरस की बात है जरा आंख का कच्चा आदमी है सुंदरता ढूंढती है जिसकी आंख सुंदरता ही ढूंढती रहती है दुनिया में अब वो आंख के साथ बंधा हुआ है तो उसने एक दिन हमसे पूछा कि आज महाराज छोटी किस्म का है कैसा समझो तो आज महाराज हम बाजार में गए वहाँ हमने एक बहुत बढ़िया वस्त्र पहने पहने और घूंघट काढ़े एक स्त्री देखी तो मन में आया कि कितनी सुंदर होगी ऐसे हो है ना तो मैं उसके पीछे पीछे चलने लगा वो बाजार में चलती रही है ना सड़क पर चलती रही गली में गई मैं भी गली में गई जब वो अपने घर में पहुंच गई घर में पहुंच गई तो दरवाजे पर खड़े होके अपना घूंघट हटा दिया मुंह खोल दिया और बोली कि आपको बहुत तकलीफ हुई <laughs> आपको बहुत तकलीफ हुई अब अच्छी तरह से आप देख लीजिए है ना तो वो तो बिल्कुल कुरूप थी उसके चेहरे पर चेतक के दाग थे वो काली औरत थी कपड़ा देख के और पाँव देख के जितना शरीर उसका देखता था उसको देख देख के मैं उसके पीछे पीछे चला गया हम आपसे पूछते हैं कि वो कौन सी चीज थी जो उस भले मानुष को मीलों तक उस स्त्री के पीछे खींच के ले गई उसके हाथ में तो कोई हथकड़ी नहीं थी उसके पाँव में कोई बेड़ी नहीं थी कमर में या गले में कोई रस्सी नहीं लगाई गई थी लेकिन कोई गांठ उसके दिल में थी कि नहीं थी इसी को ही बोलते हैं वो है ना तो सौंदर्य की वासना जो है है ना सौंदर्य की वासना एक गांठ है और उसमें तो मैं करके बैठ गए तो जहाँ जहाँ सौंदर्य की प्रतीति होगी या श्रवण होगा वहाँ वहाँ वो वासना तुमको घटित करके ले जाएगी और समझो कि तुमने सौंदर्य वासना को छोड़ दिया है ना हमको आंख फेंकने के लिए या आंख ठंडी करने के लिए दोनों मुहावरा है है ना सौंदर्य की जरूरत नहीं है हमारे गांव में बोलते हैं कि अच्छा वो चीज बताओ जिसका आना भी बुरा जिसका जाना भी बुरा जिसका उठना भी बुरा जिसका बैठना भी बुरा उसका नाम बताओ आप बता सकते हैं जिसका आना भी बुरा जाना भी बुरा है उठना भी बुरा और बैठना भी बुरा बोले एक आंख है इसका नाम आंख आंख आई है एक रोग है वो आंख का आना एक रोग है और आंख का जाना तो अंधा होना है और आपका का उठना भी रोग है और आपका का बैठ जाना भी रोग है बोला तो अंधापन ही है, है? तो बोले ये आखिरी देवता ऐसी हैं जिनका आना भी रोग जाना भी रोग उठना भी रोग बैठना भी रोग है तो अब जब सौंदर्य वासना की गांठ जो दिल में है उसके साथ मैं करके बैठ गए ना मैं वासना वाला हूँ है अब वो वासना घसीट घसीट के यही ग्रंथी हुई ये वासना जो है वो घसीट घसीट के तुमको ले जाएगी और कहा दौड़े हुए कहा जा रहे हो धन तो है है ना धन तो है किसी दूसरे की तिजोरी में धन तो है बैंक में है और तुम हो बिल्कुल भले मानुष मनुष्य के रूप में जीववान प्राणी है ना जीवंत प्राणी चैतन्यवान प्राणी बुद्धिमान प्राणी तुमको कौन घसीट के धन के पास ले जाता है लेकिन धन ने हमारे हथकड़ी लगा दी है तो धन ने तो हथकड़ी नहीं लगाई है उसके पास कोई रस्सी नहीं है बोले नहीं धन की जो वासना है उसने चैतन्य के साथ गांठ जोड़ लिया है गठबंधन कर लिया है है ना तो जैसे पति पत्नी की ग्रंथि होती है तो ग्रंथि बंधन होता है कि नहीं आप लोगों के तैयार तो भी तो होता होगा ना ब्याह में गांठ बांधते हैं कपड़े की गांठ बांधते हो है ना तो है? कपड़े की गांठ बांधते हैं अच्छा कपड़े की गांठ तो फिर खोल दी जाती है, है? तो कपड़े की गांठ तो खुल जाती है लेकिन दिल में जो वासना की गांठ बनती है ना ये मेरी पत्नी और ये मेरा पति है ना वो किसको बांधती है वो पत्नी के मैं को बांध देती है और वो पति के मैं को बांध देती है है ना दोनों बधे बधे बधे बधे डोलते हैं वो रोए है ना वो रोए तो वो सिर पीते है ना और वो रोए तो छाती पीते है ना क्यों भाई रोता है दूसरा और फिर दूसरा क्यों पीटता है, बोले गांठ पड़ गई है दोस्तों कौन सी गांठ पड़ गई है <laughs> इसी का नाम हृदय ग्रंथि है विद्यते विद्यते हृदय ग्रंथि धन के साथ स्त्री के साथ पुत्र के साथ मित्र के साथ प्रांत के साथ राष्ट्र के साथ समूची धरती के साथ हिंदू के साथ मुसलमान के साथ ब्राह्मण के साथ सन्यासी के साथ मानवता के साथ एक गांठ बंध गई है गांठ बंधना क्या चेतन में कोई गांठ वाठ नहीं लगती बोला चेतन कोई बबूल का कोई बबूल का पेड़ थोड़ी है चेतन की उसमें गांठ पड़ जाए कोई खंभा फोड़ी है कि रस्सी से उसको कोई बांध दे चैतन्य तो अनंत आकाश का अधिष्ठान अनंत दिक काल जो है दिक काल आदि से अनवच्छिन्न अनंत चिन्मात्र जो वस्तु है उसमें गांठ कैसी गांठ वाठ तो नहीं होती उसको गांठ तो टूटी नहीं तो बस यही बात तो तुमको मालूम नहीं है कि कोई अमेव ग्रंथ वेदा यदि तुमने ये समझ लिया कि मेरी कहीं है ना किसी कर्म से पाप पुण्य से हमारी कोई गांठ नहीं बंधी है और धर्माधर्म से हमारी ग्रंथि नहीं है राग द्वेष से हमारी गांठ नहीं है शत्रु मित्र से हमारी गांठ नहीं है सुख दुख से हमारी गांठ नहीं है ये तो सपने में जैसे कोई चीज झलकती है वैसे झलकते हैं और चले जाते हैं विद्यते अर्वेद ग्रंथे तो बोले भाई इतने दिनों से हिंदू धर्म में सुना मुसलमान धर्म में सुना ईसाई धर्म में सुना शायद हो ही होए अरे अभी शायद वायद के चक्कर में मत पढ़ना बोला हाँ जो हो सो होने दो हाँ। पलटू तुम मरते नहीं साधो करो विचार हाँ। साधो करो विचार तुम ही करता के करता हाँ, हमारे एक पलटू बाबा थे वो जाते थे वो का पूछो साधो का पूछो साधो उम्र हमारी हो हे साधु तुम हमारी उम्र क्या पूछते हो कोटि कलप ब्रह्मा भये दस कोटि कन्हाई हो छप्पन कोट जादो भये मेरी एक पलाई हो का पूछो साधो उम्र का पूछो साधो उम्र हमारी हो क्या पूछते हो इस आत्मा की उम्र जुग पर जुग आए और चले गए मन मंत्र कल्प महाकल्प आए और चले गए काल कितने रूपों में फुरफुराया अपने कितने टुकड़े दिखाए काल ने लेकिन काल का जो है ना प्रेत है का, काल का जो प्रेत है हाँ, वो तो केवल कल्पना मात्र है हाँ, वो काटता होगा बेवकूफों को जड़ों को काटता होगा चैतन्य चैतन्य के साथ उसका कोई संबंध नहीं है चैतन्य का तो तमाशा है काल चैतन्य तो काल का तमाशा देख रहा है ये जो लंबाई चौड़ाई में देश हैं होंगे इसके टुकड़े है ना होगा हिंदू का दुश्मन पाकिस्तान और मुसलमान का दुश्मन हिंदुस्तान है ना भले ही होगा नारायण लेकिन नारायण तुम्हारे चैतन्य में आत्म चैतन्य में असल में हिंदुस्तान पाकिस्तान का भेद नहीं है और महाराष्ट्र गुजरात का कोई देश नहीं है मानव पशु पक्षी मनुष्य देवता दानव कोटि कोटि ब्रह्मांड कहा मैं करके बैठे हो इतनी छोटी जगह में इतने छोटे टुकड़े में अपने मैं को अपने मैं को रख लेना कभी सोचा है तुम कौन हो तो ये वासना की जो ग्रंथि है इस पर बैठना ही मृत्यु है क्योंकि इसमें बड़ा संघर्ष है एक बात आपको बताऊं दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो एक ही वासना से बाधित हो गंध की वासना अलग स्पर्श की वासना अलग रूप की वासना अलग रस की वासना अलग है ना स्त्री की वासना अलग पुत्र की वासना अलग धन की वासना अलग कीर्ति की वासना अलग ये मनुष्य चूंकि देश से अपरिच्छिन्न नहीं है ना देश से परिच्छिन्न देश से परिच्छिन्न नहीं है ना ये आत्मदेव तो अपने को एक देह में रखना तो इसको भारी पड़ता है तो खुद जब नहीं फैल पाता तो अपना नाम अपनी कीर्ति अपना जस अपनी ख्याति फैला करके झूठा संतोष करना चाहता है वो हाँ, खुद नहीं फैल पाता तो है ना जब ये देखता है कि हम तो 500 वर्ष बाद नहीं रहेंगे तो सोचता है कि एक धर्मशाला ही ऐसी बना दें जो 500 बरस रहे है ना ये स्वयं 500 बरस तक रहने में अपने को असमर्थ पाता है क्यों बोले देह हो गया तो देह तो 500 बरस नहीं रहेगा तो बोले हम अजर अमर कीर्ति की प्रतिष्ठा करेंगे है ना बोले सारे देश में खुद तो साढ़े तीन हाथ में फंस गया तो कहाँ से पहले लेकिन स्वभाव तो इसका फैलने का है और बोलता है सब जगह हमारा नाम छा जाए है ना ये परम ईश्वर्यशाली है मन ही इसका हुक्म नहीं मानता है, है? तो ये कहा कहता है नहीं हम सारी दुनिया को अपने बस में करके और अपना हुक्म मनावेंगे तो ये समझो हम तो खेतिहर हैं किसान हम जानते हैं कि अगर एक ही साथ पांच सात तरह के बीज बो दिए जाएं एक ही धरती में एक ही गड्ढे में पांच सात तरह के पेड़ लगा दिए जाए ना उसमें आम हो पीपल हो बबूर हो है ना अशोक हो बड़ हो तो क्या होगा उन पेड़ों की गति गति क्या होगी आप जानते हैं या तो वो मर जाएंगे उसमें से एक हो जाएगा या आपस में लड़ेंगे या सब के सब दुबले हो जाएंगे या अंत में क्षीण हो जाएंगे तो ये जो एक ही हृदय में तरह तरह की वासना है ना ये संघर्ष की सृष्टि करते हैं वो आदमी कभी दुखी नहीं रह सकता जिसके इस नन्हे मुन्ने दिल में नन्हे से दिल में हो और बहुत सारी वासनाएं बैठ करके आपस में संघर्ष कर रही हो टकरा रही हो और ये कहो कि हम दिल को तो रख लेंगे और वासनाओं को मिटा देंगे तो ये होने वाला नहीं है बिना वासना का तो दिल रहता नहीं है, है? तो ऐसी स्थिति में क्या करना पड़ेगा वासना ग्रंथि का भेदन यही है कि इस दिल में जो तुम्हारा मैं अटका हुआ है है ना उसके बारे में विचार करो कि ये सचमुच अटक गया है या अटका हुआ नहीं है और जब तक संशय रहेगा संशय में तो भ्रम भी रहता है ना अंधकार भी रहता है आधा दिखे और आधा न दिखे तभी संशय रहता है पूरा दिखने पर कोई भी चीज पूरी पूरी दिख जाए तो उसमें संशय नहीं रहता है स्फीतालोक मध्यवर्ती घट के संबंध में स्पष्ट प्रकाश में ये स्त्री है ये पुरुष है कोई संशय है कि ये स्त्री है कि पुरुष है है ना कि ये संशय है कि ये पुरुष है कि स्त्री है कोई संशय नहीं है ऐसे जो आत्म तत्व का दर्शन कर लेता है जान जाता है एक शरीर की वासना ग्रंथियों के साथ हमारे मैं का वैसे ही संबंध नहीं है जैसा दूसरे शरीर में रहने वाली वासना ग्रंथियों के साथ कि जैसे हमारा आकाश इस शरीर में रहने वाला आकाश जैसे इस शरीर की वासनाओं से है ना गंदा नहीं होता वैसे तो दूसरे शरीर की वासनाओं से भी गंदा नहीं होता और दूसरे शरीर की वासनाओं से आकाश जैसे गंदा नहीं होता जैसे काल गंदा नहीं होता हो जैसे देश गंदा नहीं होता जैसे आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी गंदे नहीं होते ठीक वैसे ही ईश्वर आत्मा परमात्मा चैतन्य जग जग जग जग मग स्वयं प्रकाश सर्वाधिष्ठान अद्वितीय वस्तु वो कहीं भी किसी भी कर्म से न लिप्यते कर्मणा पाप के न पाप कर्म से उसका लेप नहीं होता तत्व ज्ञानी पुरुष की महिमा ही यही है नासौ तपति किम हम साधु ना करवम किम हम पाप न करवम नासौ तपति उसको ये पश्चाताप नहीं होता कि मैंने ये अच्छा काम क्यों नहीं किया है तो उसको ये अभिमान नहीं होता कि मैंने ये अच्छा काम क्यों किया कैसे क्या क्या क्या अच्छे काम किए मैंने ये बुरा काम क्यों किया इसकी उसको गुलानी नहीं होती है ना तो बुरे काम की गुलानी नहीं अच्छे काम अच्छे काम का अभिमान नहीं एश नित्यो महिमा ब्राह्मण से न कर्मणा वर्धते नो कनियान गोरा चाम होने से तुम श्रेष्ठ हो गए काला चाम होने से तुम हीन हो गए ये काम होने से तुम हीन हो गए ये काम होने से बड़े हो गए अपने आप में जो स्वारसिक स्वाभाविक नैसर्गिक जो शुद्धि है जो पवित्रता है उसको तो जानते नहीं और नैमित्तिक पवित्रता को स्वीकार करते हो कि नैमित्तिक पवित्रता आई और नैमित्तिक पवित्रता आई यही वासना ग्रंथि ये वासना ग्रंथि है तो जब <clears throat> ये हृदय में रहने वाली वासना ग्रंथिया सारे हृदय के साथ ही न हृदय मैं हूँ न हृदय मेरा है न हृदय सच्चा है जैसे मच्छर का हृदय मेरा नहीं है वैसे ये हृदय भी मेरा नहीं है जैसे मच्छर का हृदय मैं नहीं हूँ वैसे ये हृदय भी मैं नहीं है हाँ। जैसे मच्छर के दिल के साथ हाँ, जैसे मिट्टी करेले के कड़वाहट के साथ संबंध नहीं रखती है वैसे ही अंगूर के विशास के साथ भी संबंध नहीं रखती है वैसे अपना जो चैतन्य स्वरूप है न मच्छर के साथ एक है और न मनुष्य के साथ एक है न देवता के साथ एक है न ब्रह्मा विष्णु महेश के साथ एक है बोला यदि अपने से अन्य दृश्य पदार्थ को यदि किसी ज्यादा उम्र वाले को और ज्यादा फैले हुए को और ज्यादा वजनदार को और ज्यादा कर्मी को ज्यादा गुणी को मैं मान बैठोगे मैं मान बैठोगे तो ग्रंथि पड़ गई यह को मैं मानना ही ग्रंथि है अन्य को आत्मा मानना ही ग्रंथि है है ना और अपने सिवाय दूसरे को सत्य मानना ही ग्रंथि है अपने सिवाय अन्य को सुख मान नहीं ग्रंथि है अपने से अन्य को सुख मानोगे तो ऐसी गांठ पड़ेगी जो तुमको तुम्हारे स्वरूप में से निकाल के जिसको तुम सुख मानोगे उसमें ले जाके डाल देगी और यदि तुम अपने से अन्य को जड़ मानोगे तो उसके साथ मैं करके तुम भी जड़ हो जाओगे और अपने से अन्य को यदि तुम मृत्युशील मानोगे है ना तो उसके साथ मैं करके तुम भी मृत्युशील हो जाओगे इसलिए अपने अपने साक्ष्य स्वरूप अपने ब्रह्म स्वरूप अपने ब्रह्म स्वरूप अपने अद्वितीय अनंत स्वरूप से अतिरिक्त को तो मैं मानना मेरा मानना और उसको सच्चा मानना इसी का नाम इसी का नाम ग्रंथी है वो अपने स्वरूप का अज्ञान ये अविद्या ग्रंथि है और उसके कारण कहीं भी किसी भी वस्तु में सत्यत्व की भ्रांति ममत्व की भ्रांति अहंत्व की भ्रांति ये अविद्या वासना ग्रंथि है इस दिल को ही छोड़ो असमर्थ्यो मृतो भगवती अब तुम सचमुच जैसे अमर से जैसे हो तो वही तुम हो अब मृत्यु तुम्हें छू नहीं सकते और अत्र ब्रह्म समस्नुते अत्र माने इसी जीवन में ये गांव के लोग ब्राह्मणों से पुरोहितों से धर्म की बात ज्यादा सुनते हैं तो उनके मन में ये ख्याल होता है कि हम कथा सुनेंगे तो हमको धर्म होगा पुण्य होगा और धर्म पूर्ण होगा तो हमारा परलोक बनेगा मरने के बाद हमको अच्छी गति मिलेगी एक दृष्टि से देखो तो ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि परलोक बनाने के लिए है ना क्योंकि लोक बनाने के बारे में तो लोग स्वयं इतने बुद्धिमान हैं कि कुछ किसी दूसरे से सीखने की जरूरत नहीं है और पंडित जी से क्या सीखेंगे है ना पंडित जी से क्या सीखेंगे बाबा जी से क्या सीखेंगे कि पैसा कैसे कमाया जाता है <clears throat> तो लोग बनाने के लिए तो बाबा जी के यहाँ जाएंगे नहीं कथा सुनने के लिए जाएंगे नहीं तो ब्राह्मण पंडित ये अच्छा संस्कार डालते हैं कि यदि तुम कथा वार्ता सुनोगे प्रवचन सुनोगे तो तुम्हें पुण्य होगा तुम्हारा प्रलोक बन जाएगा तो लोग तो खुद बनाते हैं और लोग बनाने के लिए आते हैं प्रवचन से लेकिन महात्माओं का ये कहना है कि जैसे इस जन्म में धर्म करो और उसका फल स्वर्ग में मिलता है वैसे ये वेदांत का श्रवण जो है ये इस जन्म में सुनो और दूसरे जन्म में या दूसरे लोक में इसका फल मिले इसके लिए नहीं है ये तो असल में तुम्हारे लोक को ही पूरी तरह बनाने के लिए है है ना और परलोक की चिंता मिटाने के लिए है परलोक का तो भय मिटा दे और इस लोक को बिल्कुल ठीक ठीक बना दे तो ठीक ठीक बनाने का मतलब क्या है इससे पैसा मिल जाएगा इससे भोग मिल जाएगा हमारा लोक इससे क्या बनेगा क्या तो लोक तुम्हारा इससे ये बनेगा कि दिन भर में जो सत्रह बार होते हो है ना <laughs> दिन भर में जो सत्रह बार रोते हो हमारे पास ये नहीं हमारे पास ये नहीं हमको ये चाहिए हमको ये चाहिए ये जो तुमको दृष्ट दुख है दृष्ट दुख है ना हम ये नहीं समझते ईश्वर को नहीं जानते इसका भी दुख स्वर्ग को नहीं जानते इसका भी दुख मर के कहा जाएंगे इसके बारे में अंधकार इसके बारे में अंधकार जाएंगे कि नहीं जाएंगे कि यहीं रहेंगे ये भी कुछ नहीं मालूम हैं और जरा जरा सी बात पर किसी ने आंख टेढ़ी करके देखा तो रोने लग गए किसी ने कड़वी बात कह दी तो रोने लग गए पांच रुपया चला गया तो रोने लग गए जुकाम हो गया तो रोने लग गए डॉक्टर को दो रुपया ज्यादा देना पड़ गया तो रोने लग गए ये दिन भर में जो सत्रह दफे रोते हो है ना ये जो तुम्हारे मन में मुर्दों को याद कर करके जो शोक होता है दुख होता है और अनुभवों की याद करके कल्पना करके कर जो भय होता है, है और जो बेवफा लोगों के साथ तुम मोह करके मोह करके अपने आप को दुखी कर रहे हो कि ये सारा जो है ना संसार का जो पछड़ा है ये जो प्रपंच है ये जो झगड़ा है कि तो ये सारा का सारा वेदांत श्रवण से निवृत्त हो जाता है असमर्थो अमृतो भवती अमृतो भवती का अर्थ देखो एक तो मृत्यु के समान जो कष्ट हैं तुम्हारे जीवन में शोक मोह भय आदि उनकी निवृत्ति हो जाएगी और तुम्हें अपनी मौत का जो भय है तो सो भी निवृत्त हो जाएगा अमृतो भवती अरे तुम ऐसे अमृत हो जाओगे कि दूसरे लोग जब देखेंगे ना कि इसके हृदय में राग नहीं राग की ग्रंथि नहीं है द्वेष की ग्रंथि नहीं है शोक मोह इसको नहीं सताते हैं इसके चित्त में किसी के साथ कोई दुर्भाव नहीं है तो कोई संघर्ष इसके जीवन में है ही नहीं है तो तुम्हारे इस सहज सादा जीवन को देख करके लोग यही सोचेंगे कि इसके पाँव की धूल चाटे बोला हाँ हाँ अमृतो भवती तुम अमृतमय हो जाओगे है ना लोगों की आंख जो है तो इसके लिए नहीं करना चाहिए सारी सृष्टि के लिए तुम अमृत हो जाओगे तुम्हारे मुंह से जो वाणी निकलेगी वो लोगों के लिए अमृत हो जाएगी तुम्हारे शरीर से जो हवा निकलेगी वो लोगों के लिए अमृत हो जाएगी तुम्हारी जो नजर लोगों पर पड़ेगी तो वो अमृत हो जाएगी जिसको तुम छू दोगे तब तो वो अमृत हो जाएगा है ना तो जज्जत पश्यति चक्षुर्भ्याम जज्जत स्पृशति पाणीभ्याम जज्जत पश्यति चक्षुषा स्थावरान यति मुच्यंते किम पुनः इतरे जना किम का कथा इतरे जना प्रिय बाबा जी महाराज उपनिषद के इस श्लोक को बारंबार बोलते थे कि जब जब पाणीभ्याम पाणी व्याम अपने हाथ से जिस बर्तन को छू देता है जिस पशु को छू दे, देता है जिस चूहे पर हाथ फेर देता है वो है ना हाँ, जिस बिल्ली जिस कुत्ते के ऊपर हाथ रख देता है हाँ, वो भी मुक्त हो जाता है जिसको अपनी ज्ञान दृष्टि से देख लेता है वो भी मुक्त हो जाता है हाँ। स्थावरण यदि मुच्यंते जड़ भी मुक्त हो जाते हैं चेतन की तो कथा ही क्या कहने का अभिप्राय ये कि उसकी दृष्टि में कोई बद्ध तो है ही नहीं उसकी दृष्टि में कोई जड़ तो है ही नहीं उसकी दृष्टि में कोई जीव तो है ही नहीं लोग स्वयं ही अपने को जीव मानते हैं ब्रह्म वेदता किसी को जीव थोड़ी देखता है लोग स्वयं अपने को बद्ध मानते हैं ब्रह्म वेदता किसी को बद्ध थोड़ी देखता है हमको तो एक दिन बड़ी खुशी हुई हमको जब ये मालूम हुआ कि <clears throat> मोकलपुर के बाबा के पास थे तो उन्होंने गीता पर शंकरानंदी टीका कोई थी हमारे पास शंकरानंदी टीका की पुस्तक थी उनके पास तो थी नहीं वो तो पोथी पन्ना नहीं रखते थे तो उन्होंने पोथी मेरे हाथ में से ले ली और एक ऐसे खोल दिया पुस्तक को तो उसमें से निकल आया तो उसमें ये निकला कि जो ऐसा मानता है कि मैं तो वेदांत श्रवण मनन निधि करके मुक्त हो गया और बाकी दूसरे लोग बद्ध हैं ऐसा जिस ऐसी जिसकी दृष्टि है वो अभी मुक्त नहीं हुआ है वो बद ही है न समुक्ता किंतु वाचा मुक्त है ना जो जिसकी ऐसी दृष्टि है कि मैं मुक्त हूँ और दूसरे लोग बद्ध हैं उसको अभी तत्व की मुक्ति का ज्ञान नहीं है तात्विक मुक्ति का ज्ञान नहीं है और सबके शरीर में जो तत्व है वो तो मुक्त ही मुक्त है तो जिस दिन हमको ये मालूम हुआ कि तत्व ज्ञानी की दृष्टि से तो हम मुक्त हैं आप देखो हमने कहा तत्व ज्ञानी की दृष्टि सच्ची और हमारी दृष्टि झूठी है ना हमारी दृष्टि झूठी हम जो अपने को बद्ध मानते हैं है? वो हमारी बेवकूफी और तत्व ज्ञानी जो हमको मुक्त मानता है वो उसका सच्चा ज्ञान तो सच्चे ज्ञान के अनुसार हम मुक्त हैं और है ना और अज्ञान से अज्ञान के कारण हम अपने को बद्ध मानते हैं सच्चे ज्ञान की दृष्टि से तो हम बिल्कुल मुक्त ही मुक्त हैं तो इसमें संशय करने का कोई कारण नहीं है जरा सर्वे प्रमुख प्रमुचनते कामा ये हृदय अच्छा अब आगे का प्रसंग फिर आपको कल सुनाऊंगा